करते थे इस तरह उन्होंने जिन्नों का घमंड और ज्यादा बढ़ा दिया और ये कि इंसानों ने भी वही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर न भेजेगा और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा कि वो पहरेदारों से पटा पड़ा है और उल्काओं की वर्षा हो रही है और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान में बैठने का स्थान पा लेते थे मगर अब जो चोरी छिपे सुनने का प्रयास करता है वो अपने लिए घात में एक उल्का लगा हुआ पाता है وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن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 अगर सीधे मार्ग पर चलते तो हम उन्हें खूब सिंचित करते ताकि इस नेमत से उनकी आजमाइश करें और जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में ग्रस्त कर देगा और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं अतः उनमें अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वला उशरिक बिही अहदा कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा कुल इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दूनिहि मुल्तहदा इल्ला बलागन मिन अल्लाहि व रिसालातिहि वमन यअसिल्लाह वरसूलहु फइन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए ए नबी कहो मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता कहो मैं तुम लोगों के लिए न किसी हानि का अधिकार रखता हूँ न किसी भलाई का कहो मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता और ना मैं उसके दामन के सिवा कोई शरण लेने की जगह पा सकता हूँ मेरा कार्य इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह की बात और उसके संदेश पहुंचा दूं।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 कहो मैं नहीं जानता कि जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो नजदीक है या मेरा रब उसके लिए कोई लंबी अवधि नियत करता है वो परोक्ष का जानने वाला है अपने परोक्ष को किसी पर प्रकट नहीं करता सिवाय उस रसूल के जिसे उसने परोक्ष का ज्ञान देने के लिए पसंद कर लिया हो तो उसके आगे और पीछे वो रक्षक लगा देता है ताकि वो जान ले कि उन्होंने अपने रब के संदेश पहुंचा दिए और वो उनके पूरे वातावरण यानी माहौल को घेरे में लिए हुए है और एक एक चीज को उसने गिन रखा है